क्या वो नहीं देखते कि बेशक हमने उनके लिए पैदा किए मवेशी जिनको हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया फिर वो उनके मालिक बने हुए हैं